जब वो दाऊद के पास पहुंचे तो दाऊद उनसे घबरा गए उन्होंने कहा डरिए नहीं हम एक झगड़े के दो फरीक हैं हम में से एक ने दूसरे के साथ ज्यादती की है अब आप हमारे दरमियान ठीक ठीक फैसला कर दीजिए और ज्यादती न कीजिए और हमें ठीक ठीक रास्ता बता दीजिए